यन्तु महाकानि पाषाणश्च सर्वाणि सर्वम् परमोपरिषदम् करके सप्तम मंत्र तक विचार हो गया है जिसमें एक कहानी आरंभ कर दिया माने जगत के नियंता तो परमात्मा है देवताओं को ऐसी घटना घटी देवताओं के सामने परमात्मा ने दर्शन दिया है अंतरियाम रूप से उन परमात्मा ने विजय प्राप्त करवाई देवताओं को उनके शरीर को लेकर जलमान हो गया इस लड़ाई को हमने जीती होता है कि हमारे पुरुषार्थ का फल है ऐसे घमंड हो रहा था उस समय में उस अभिमान को दूर कराने के लिए भगवान हमेशा साधकों के अभिमान को दूर करने की चेष्टा करते हैं हम लोग छोटे छोटे बातों में कोई भी हमारे में कला आ जाए बहुत बड़ा अभिमान हम सामने कर देते हैं कोई भी कला हो दूसरा नहीं जानता हम जानते हैं वो उसको लेकर बड़ा अभिमान होता है किंतु भगवान ऐसे हैं अमानी मानव मानव लोक स्वामी त्रिलोक धृत भगवान के नाम ऐसा है विष्णु शास्त्र नाम आप लोग पाठ करते होंगे स्वयं अमानी है और दूसरे को सम्मान देने वाले हैं इसलिए वो मान्य होता है जो अमानी होगा दूसरे को सम्मान देगा वो स्वतः मान्य हो जाता है अमानी मानव मान्यो भगवान का ऐसा नाम है अमानी है तो देवताओं का अभिमान चूर करने के हिसाब से एक पूज्य व्यक्ति के रूप में प्रकट राक्षस के रूप में प्रकट नहीं हुए एक पूज्य व्यक्ति के रूप में यक्ष शब्द से कहा यक्ष पूजा धातु है पूज्य व्यक्ति के साथ से थोड़ा दूर पर बिल्कुल नजदीक में मान वो संभाषण न कर सके केवल दृश्य दिखाई दे ऐसी स्थिति में भगवान प्रकट हो गए जब उधर यक्ष प्रकट हो जाते देवताओं को हम इतर अंतकरण में तो दुग्धुगी हो जाती है सांतर भया शब्द दिया भाषिका इतर में भय है एक मुश्किल से एक लड़ाई के अभी आए और दूसरा कौन सा पत्र आ रहा है इसके लिए भेजना है गुप्तचर भेजा गया जो बड़े बड़े देवता माने जाते हैं इस पृथ्वी के देवता अग्नि माने जाते हैं अंतरिक्ष देवता वायु स्वर्ग के देवता आदित्य ऐसा माना हुआ है तो ये पहले पृथ्वी के देवता जो अग्नि है उनको भेजा गया बहुत बड़े देवता हैं हम लोग वेद पाठ करते हैं अग्निर्देवता पातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता ऐसे वेद पाठ करते हैं तो ये सब देवता में आते हैं ब्रह्मा जी ने विचार किया था एक बार छांद में चर्चा है तीनों लोग को तपाया था भुवस्व तीन लोग तो तीन देवता सार रूप में मिले थे अग्नि वायु आदित्य बड़े देवता हैं बड़े शक्तिशाली हैं तो यहां भी जब तृतीय पर्याय जब आएगा इंद्र शब्द आएगा तो बाक्य भाष्य का ऐसा अर्थ करेंगे इंद्र का अर्थ आदित्यो वज्रभृत बा ऐसा अर्थ करेंगे और इंद्र शब्द का अर्थ आदित्य भी हो सकता है और वज्रधारी प्रसिद्ध तो भाई है ऐसा अर्थ करेंगे तो सप्तम मंत्र तक हम विचार ले लेते थे अग्नि को भेजा अग्नि को सफलता नहीं मिली वो यक्ष कौन है जान नहीं सका क्योंकि जब वहां पहुंचा तो कुछ पूछने के लिए जा रहा था आप कौन हो क्या हो कैसे हो या कैसे खड़े हो पूछना था किंतु जाते जाते उनकी प्रतिभा नष्ट हो गई अग्नि की प्रतिभा नष्ट हो जाती है सूर्य के सामने दीपक की प्रतिभा नष्ट हो जाती संसार के बड़े देवता जरूर हैं ये अग्नि वायु आदि इत्यादि किंतु भगवान से बड़े तो नहीं होते तो प्रतिभा समाप्त हो जाती है बोल ही नहीं पाए इस स्थिति में स्वयं उधर से पूछा गया तुम कौन हो तो अपने अभिमान लेते हुए कहा दो नाम बड़े बड़े नाम दिया मैं अग्नि हूं चाहत वेदा हूं ऐसा नाम मैंने मैं सामान्य नहीं हूं मैं हम साधु भाषा में बोलते ना पहले कभी डॉक्टर रहा होगा मैं वो मैं डॉक्टर हूं ऐसा मैं अब तो भिखारी हूं तो अभिमान नहीं करना चाहिए मैं अग्नि हूं अग्नि का अर्थ होता है अग्रे नयती थी अग्नि बहुत बड़ा विशेषण है ये तो आगे चलने वाले को अग्नि बोलते हैं क्योंकि तो हमारे जो सनातन धर्मावलंबी लोग हैं अग्नि के बिना कोई कार्य होता नहीं है अग्नि माने खाना पकाने के लिए नहीं जो भी हम संस्कार करते हैं जो स्व संस्कार हमारे यहाँ है तो उसको अग्नि के बिना नहीं होता जो सनातनी लोग होंगे वो अभी भी वो कार्य को करते हैं सोलह संस्कार अग्नि के द्वारा ही होगा अग्नि के बिना हवन किए बिना कोई कार्य होता है कुछ भी करना हो तो हवन करो अग्नि चाहिए तो अग्नि जब वहां जाकर के वापस आ जाते जात वेदा नाम दिया और अग्नि जात वेद का था जाता ही सर्व व्यक्ति थी जात वेदा जितने भी पैदा हुए हैं उनको सब जानता क्यों पैदा होते ही अग्नि चाहिए जात कर्म संस्कार करने के लिए अग्नि हवन करना पड़ेगा उसके बिना होगा ही नहीं हाँ, शायद आदि चटाएंगे गिरत चटाएंगे बाद बाद की बात है पहले तो हवन करना होगा हमारे यहाँ की परंपरा ऐसी रही आज दुर्भाग्य है वो परंपरा लगभग समाप्त की ओर है ये स्थिति है तो अभी जब वापस आ जाते हैं तो दूसरे देवता को भेजने की तैयारी किया वायु को जो अंतरिक्ष का देवता माना जाता है वायु बहुत बड़ा देवता है जैसे वो मंडल का अधिकारी अग्निदेवता और अंतरिक्ष मंडल का अधिकारी वायु देवता तीनों लोग यही जो है भूर घोष तीन देवता वहां माने गए हैं अग्नि वायु आदित्य यही माने जाते हैं मात्र है तब अथ वायु अप्रमण

उस परमात्मा कौन है यक्ष कौन है पता नहीं लगा अग्नि लगा उसके पश्चात अग्नि जब वापस आ गए उसके पश्चात वायु अब्रुवन देवा अब्रुवन वायु वायु को देवताओं ने कहा सभी देवताओं ने कहा वायो संबोधन कर रहे वायु एतर ज्ञानी एतर दूर में नहीं है नजदीक में इसको जानो कौन एतर यक्षम पूज्य एतर ज्ञानी इसको विशेष रूप से जानो पहचान करके आओ कौन है क्या है इसको पहचानो ऐसा किमेतर यक्ष ये यक्ष कौन है मन पूज्य रूप में दिखाई दे रहा है बहुत बड़ा दिखाई देता है ये कौन है इसको पता लगा और ऐसा कहा उसने तो कहा ठीक है भाई ने कहा ठीक है तथा ठीक है कोई बात नहीं मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं क्यों सामान्य शक्ति वाला नहीं वायु और दूसरी बात मातरिश्वा दो विशेषण लगाने के कोई बड़ी बात नहीं मेरे लिए अच्छा आगे मंत्र है आगे भी तद अव्यवत हम अव्यवत घोषीति वायुर्वै अहमस्मीति अब्रवीत मातरिष्वा वै अहमस्मीति तद अव्यवत हम अव्यवत ओषीति वायुर्वैरहमस्मीति अब्रवीत् मातरिष्वा वैरहमस्मीति तस्मिस्त्वयि किं वीर्यमिति अमीर सर्व आदरीय शरीर पृथिव्यामिति तस्मिस्त्वयि किं वीर्यमिति अपीदम सर्व आदरीय यदीदम पृथिव्यामी तस्म तृणम विदाह एतद आदर्शते तदुपप्रेयाय सर्वजमेन तन्नसाक आदातुम सतएव नैतद असटम विज्ञापन

तद अव्यत जब देवताओं ने कहा अग्नि वापस होने का वायु ने कहा हे बाल आप जाओ तुम बहुत बड़े बड़े हैं लोग वायु ने कहा तो कहा ठीक है मैं पता लगा मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं पता लगा मैं पता लगा चाहूँ तो करके बोले तद अव्यद्रव तद यक्षम अभ्यद्रवत यक्ष की तरफ चला गया था या तद ये जो है द्वितीयांत है नपुंसक लिंगम है द्वितीय उसको उसके तरफ गया तद अभ्यद्रवत और हाँ। जब गए तो वही वो भी ऐसी स्थिति में हो गए पूछना अलग रहा किंतु कुछ भी हाथपट हो गए बोलने पाए तो तम अव्यवधक उधर से पूछा गया यक्षण पूछा तम वायु अव्यवदत उस वायु को यक्षण पूछा कोशी थी कौन हो तुम ऐसा पूछा कौन हो तुम यक्षण पूछा तो अपनी जो बड़पन है वही है किसी को परिचय देते समय हम कमी नहीं रखते हैं यही है और कमी जो ऐसा करता है वो आगे जा करके ऐसे हतप्रज्ञ होकर के उसको वापस हमारे पड़ेगा इसलिए बड़पन नहीं करना चाहिए जो सच्चाई है उसमें बोलना चाहिए को सिद्धि जब पूछा गया तो कहा वायु भाई अहम अस्मी भाई प्रसिद्ध प्रसिद्ध वायु हूं मैं वायु अप्रवीत ऐसा होगा और दूसरे भी विशेषण हो जाए मातरिश्वा जमीन में चलने वाले को तो चलने वाले बहुत होते हैं सरल होता है किंतु आकाश में चलना कोई आधार नहीं है बिना आधार में निराधार में चलना है वो बहुत बड़ा हो मातरिश्वा दिया मातरी मैंने अंतरिक्ष स्वयती यदि गच्छती थी मातरिश्वा मातरी मैंने अंतरिक्ष का नाम है और उसमें स्वयति तुवस्वी गतिवृद्धि धातु है श्री धातु का स्वयति बनता है तो मातरी माने आकाश में चलने वाला जो होगा निराभार चलने वाले को कहेंगे मातरिश्वा बहुत बड़ा है इतने शक्तिशाली है वो मातरिश्वा विराम स्मृति मैं मातरिश्वा हूं ऐसा कहा दो परिचय दे दिया मैं वायु हूं और दूसरा मातरिश्वा हूं ऐसा कहा तब उस यक्ष ने पूछा तस्मिन स्वयं किन वीरियम दो दो विशेषण लगा करके अपने को परिचय दे रहे हो तुम्हारे में सामर्थ्य क्या है क्या शक्ति है तुम जो वायु शब्द का सामर्थ्य क्या है वायु और माधुरीश्वर का सामर्थ्य क्या है दसवीं स्वयं इस प्रकार से दो विशेषण वाले जो तुम हो तुमने क्या वीरियम मन सामर्थ्य क्या सामर्थ्य है पूछा तो कहा अभी इदम सर्वम है ये जो धरती पर जितने भी वस्तु है मैं सबको लेकर जा सकता हूं सब उड़ा सकता हूं उसमें रखता हूं सबको नाम आरबिया यद एकदम प्रतिज्ञा विधि जो पृथ्वी में है जो कुछ भी होगा जब बबंडर आता है तो वो उसको सर जाता है ऐसे में मेरे में शक्ति है ऐसा उत्तर दिया ये कहा <clears throat> भाष्य देखिए अथ इदम अथ वायु प्रति ये तो प्रतीक है अथ वायु यदि प्रतीक है उसके आगे अथ यदि अनंतरम अथ शब्द का अर्थ अनंतर अनंतर ही अर्थ था यहाँ अग्नि के लौटने के पश्चात वायु अवरुवम वायु को कहा देवताओं ने कहा हे वायु ये तब बिजानी ही इत्यादि समानात्मक रूप ये तब बिजानी ही कि तब एक छुट्टी समान है पहले जो अग्नि के परिया ने जो बता दिया वही बातें हैं यहाँ विशेष करने की जरूरत नहीं है ऐसा होती है किंतु वायु शब्द की थोड़ी व्युत्पत्ति बता रहे भाष्यकारी में कहते हैं बाणार वायु बा धातु से लुट प्रत्यय करेंगे तो बाण बन जाएगा पंचम बाणार यही बा गतिबंधन हो गतिशील है हमेशा निरंतर गति है इसलिए इसको बाण बोलते हैं वायु को औरों पे तो हमेशा गति होगी या नहीं होगी किंतु वायु की गति निरंतर है जो ऑक्सीजन को समझते होंगे ना बाकी वायु वो न हो वो भी तो वायु है वायु के उनचास भेद है ध्यान देना एक भेद नहीं आवह प्रवाह आदि भेद से उनचास भेद है भागवत में प्रसिद्ध कहानी है जीती ने पयोव्रत किया इंद्र के समान पुत्र चाहती थी वो दीदी किंतु कश्यप ऋषि की पत्नी है दोनों इंद्र स्वर्ग का उपभोग कर रहा है और अपना पुत्र ऐसा पुत्र है नहीं जो स्वर्ग का उपभोग कर सके ऐसा दीदी के मन में हुआ तो दिव्य ने अपने पति कश्यप ऋषि से पूछा कि भगवान ऐसा व्रत बताइए तो इंद्र के समान पुत्र हो तो उन्होंने एक पयोव्रत बताया दूध पी करके करने वाला व्रत को पयोव्रत बोलते हैं किंतु तो उसमें बहुत सारे नियम बता दिए थे अब वो नियम को पालन करते हुए पयोव्रत करने लगी तो पयोव्रत चलता रहा और इंद्र को परेशानी हो रही थी अपनी जो छोटी माँ है वो ऐसे कर रही है कहीं उससे संतान होगा तो मुझे ये गति खाली करनी पड़ सकती है तो इंद्र उसकी त्रुटियां देख रहा था कहीं त्रुटि मिल जाए तो उसमें से कुछ विघ्न डालो तो एक दिन वो शाम का रात्रि में शयन के पहले हाथ पैर धोना भूल गए इतनी गलती हो गई दीदी से पैर धो करके सोना था क्योंकि जब बाहर गए हो कहाँ गए हो पैर में कुछ लगा होगा अपवित्र होगा उसको धो करके सोना चाहिए हाथ पैर धो के सोना चाहिए भूल गई इतने में उसको छिद्र मिल गया उस गर्भ में प्रवेश कर जाता है छा करके इंद्र उस गर्भ को उनचास टुकड़ों में पहले तो सात विभाग कर देता है सात टुकड़ा बनाता है फिर एक एक को सात सात कर देता है काटता है फिर भी वो जो व्रत के परिणाम स्वरूप वो मरते नहीं मरते नहीं है और जब बच्चे पैदे होते हैं तो उनचास और पचासवां इंद्र भी वहीं से आता है ऐसा हो गया है तो उनका नाम है वायु जो उनचास पहले आवाह प्रवाह आदि भेद है ठीक होता है तो बाणात गमनात गंधनाथ वायु ये बा गति गंधायु धातु है ठीक है बा धातु दो अर्थ में गति और गमन दो ले लिया और प्रत्यय लगा करके बाण शब्द बना बाणार वायु चलता है निरंतर चलता है इसलिए उसका नाम वायु निरंतर चलता है गमनार गमनशील है इसलिए उसको वायु कहा तो बाधातु का मतलब गति गमन होता है गमन करने वाला अथवा गंधरा गंधों को यहां से उड़ा के उधर ले जाता है वहां से उड़ा के उधर ले जाता है मानी गंध विशिष्ट जो त्रसरण होंगे उसको उड़ाता है इसलिए उसको वायु कहते हैं बानाप गंदनात ये वायु तीन में से कोई भी विग्रह लेना एक विग्रह से काम चल जाएगा बानात वायु गमनात वायु अथवा गंधनात वायु क्योंकि दो तो धातु का अर्थ ले लिया गंधनाद और ये गमनाथ और बाना धातु ही है वो ये है बाणा गमना गंधना का वायु वायु की वित्पत्ति यही है विग्रह ऐसा ही है बाकी दो बार हो गया मातरिक्ष अं, मातरी अंतरिक्ष दो बार हो गया है पाठ उसको एक को कुंडली बनाकर ज्यादा होना चाहिए मातरी मान अंतरिक्ष वायु स्वयती इति स्वयती की एक नहीं होगा ऐसा नहीं होगा कमी होगी मातरी माने अंतरिक्षे स्वयती मातरिश्व स्वयती मातरिश्व मातरी का अर्थ अंतरिक्ष में स्वयति माने गच्छति अंतरिक्ष में मेरा आधार चलता है कोई आधार नहीं जिसका ऐसा चलने वाले को कहेंगे महाबलेश्वर इधम सर्वम अपनी आज्ञा भी कहा जब वहां जाने के बाद में शिथिल हो गया तो उस एक ने पूछा तुम कौन हो मैं गायु हूं महापुरुषवा बताया क्या शक्ति है तुम्हारे में क्या मैं सबको उड़ा सकता हूँ धरती में जो कुछ कहा था उसके लिए कहा इधम सर्वम अपनी आवर जो कुछ है मैं उड़ा सकता हूँ ऐसा गृहयाम यदिदम प्रतिज्ञा इत्यादि समान में जैसे पूर्व पक्ष में था अग्नि ने ऐसे बोला था जो कुछ धरती पर है मैं जला सकता हूँ तो ये बोलता है मैं उड़ा सकता हूँ सबको ऐसा बोला ठीक है बोले पर अगर तस्मय प्रणाम निर्णय आदि वही पहले जैसे व्याख्या है इसकी व्याख्या ही न करते हैं वैसी व्याख्या है इसकी उसके सामने वही चीज का जो अग्नि के सामने रख दिया था उसी को कहा अगर तुम्हारे में शक्ति है पहले इसको उड़ा करके देख लो अगर नहीं उड़ा सको तो फिर अनुमान हो गया मैं मातरिश्वा हूं मैं वायु हूं क्या अनुमान छोड़ देना होगा छोड़ देना ऐसा कहा घटना इसी घटी उड़ा नहीं सका क्योंकि भगवान की इच्छा के दिन दिन का भी नहीं हिलता ये तो सब बोलते हैं बात मानते नहीं है बोलते हैं ये ये तीन का हिल नहीं पाया है भगवान की इच्छा के बिना तीन का भी नहीं हिलता ऐसा लोग बोलते हैं लोग में लोकोक्ति है तो मान्यता नहीं खाली बोलने के लिए बात है कोई कोई मानते होंगे हो गया तो उसके बाद ये भी लौट आए देवताओं के सामने देवताओं ने कहा नहीं तक ये तक असकम विज्ञापन यही बोला मैं इसको जान नहीं सका कौन है अग्नि के पास जाकर चुपचाप बैठ जाते हैं और अग्नि ने कहा क्या हुआ जो गति तुम्हारी कोई गति मेरी <laughs> आपस में ऐसे हो जाता है और हाँ। आगे मंत्र है आगे जब अच्छा, दोनों सामर्थ्य रही गोत्र के वापस आए अब इंद्र को भेजते करके प्रश्न आया अत इंद्रम अब्रुवम भगवन एतद्जानीतक्षमिति रथेति तस्मा तिरोदधे अथेन्द्रम् अब्रुवन् भगवन् एतद्विदानीः किमेतद्यक्षन्ति तथे तत्तद्रवत् तस्मात् स तस्मिन् एव

भाष्य है पदभाष्य अध इंद्रम यदि प्रतीक दिया आगे बोलते हैं अध इंद्रम अपूर्वम सभी देवताओं ने मिलकर के फिर इंद्र को कहा या इंद्र शब्द का अर्थ पदभाष्य में तो पद्मधारी को ही कहेंगे इंद्र ही लेंगे जो प्रसिद्ध है लोक में प्रसिद्ध है किंतु वाक्य भाष्य में बद्रधारी भी हो सकता है आदित्य भी हो सकता है करके शास्त्र में प्रसिद्ध है आदित्य को भी इंद्र शब्द से कहा कहां पढ़ा गया है टिप्पणी का अनुभव करके आपके सामने रख देंगे इंद्र शब्द का प्रयोग आदित्य भी होता है ये बाक्य भाष्य में चर्चा करेंगे पद भाष्य में तो प्रसिद्ध इंद्र जो देवता देवराज इंद्र है उसी का नाम लेंगे इंद्र शब्द का प्रयोग होगा जब दोनों बड़े बड़े नेता वापस आ गए तो कहते हैं अथवा अनंतर जो तो सब सबका राजा है बहुत बड़ा देवता है हाँ, मुखिया अतः इंद्रम अग्रवन देवताओं ने इंद्र को कहा मगवन हे मगवन हे पूज्य पूज्य को मगवन बोलते हैं पूजनीय हाँ, महापूजा धातु से मधुबन शब्द बनता है सम्मानीय सम्मानीय है आमनीय है मगवम एक जान ही ऐसा कहा इसको जानिए आप इत्यादि पूर्व ये सब तो पहले जैसा ही है इसको जानो कौन है ये अच्छा अब यहां पर इंद्र का अर्थ करते इंद्र परमेश्वर भगवान बलवत्वा तथा कहते हैं इंद्र है परमेश्वर है परम ऐश्वर्यशाली है वो मगवान हम्म। पूजनीय है बलवत्ता महाबलशाली है वो शारीरिक बल भी है मानसिक बल भी है क्योंकि वज्र जैसे हथियार उसके पास है जो अमोघ है छोड़ता ही नहीं है बलवान है तथा इस प्रकार से इंद्र को कहा तब अर्धद्रव वो इंद्र भी उस यक्ष के तरफ गया ये कहा तब अर्धद्रव तस्मात इंद्रा आत्मसमीपा गता ब्रह्म विरोधे कर उस इंद्र से ब्रह्म छिप गया कहते वो यक्ष छिप गया तस्मात इंद्राद आत्म समीपम आगता तो मैं चाहिए पाते हैं गता वैसे आगता होना चाहिए आया हुआ इंद्र से छिपा होना चाहिए गता गया हुआ नहीं आया हुआ होना चाहिए तो तस्मात इंद्रा आत्मसमीपम गता आपको अपने पास जो आ रहा है ये कर जाए आगता का अच्छा ही होना चाहिए छुटा हो तब ब्रह्म वो जो ब्रह्म है तिरोध है वो ब्रह्म अंतर्हित हो गया तिरोध है अंतर्हित हो गया तिरोभूतम इंद्र से इंद्रत्वाभिमान अतितराम निराकर्तव्य तिरोभूत हो गया छिप गया वो यक्ष छिप गया क्यों कहते हैं अन्य देवताओं की अपेक्षा भी जो बड़े पद में होते हैं ना उनका अभिमान सबसे ज्यादा होता है मैं राजा हूं अभिमान ज्यादा है यही कारण रहे तिरोभूत होने के कारण होता है इंद्र से इंद्रत्वाभिमान अति तरह अतिशय है उनमें तो अति ही था इनमें अति तर है तरफ लगा के बोला अग्नि और वायु में तो गमन था ही बहुत ज्यादा गमन था क्योंकि यहां तो ज्यादा से भी ज्यादा है क्यों उनका भी राजा है इंद्र के प्रजा होते हैं अग्नि वायु भी अति तराम तरप प्रत्यय दिया है अति तराम निराकर्तव्य उस अभिमान को निराकरण करना चाहिए खंडन करना चाहिए इस अभिप्राय से वो परमात्मा छिप गया केवल दर्शन तो दिया किंतु वार्तालाप नहीं किया इत्यतः संवाद मात्र में भी ना संवाद मात्र भी नहीं दिया न आदाब नहीं दिया संवाद करने के लिए नहीं दिया समय नहीं दिया उन दोनों से तो संवाद तो किया था तो कौन होकर के पूछा था कुछ उन्होंने कहा था कि यहां संवाद नहीं दिया ब्रह्मा न आदाब ब्रह्म इंद्राय इंद्र के लिए तो संवाद करने का समय भी नहीं दिया शिव ने कहा तब यक्षम यशमिन आकाशे आकाश प्रदेश आत्मा दर्शित्वा तिरोधम किंतु वो जो इंद्र है ना वही बैठा रहा करते हैं तब यक्षम वो जो यक्ष को जिस आकाश में जिस जो यक्ष है जिस आकाश देश में आकाश प्रदेश में आत्मा दर्शित का तिरोभूत अपने स्वरूप दिखा करके अंतर्धान हो गया था छिप गया था इंद्र से ब्रह्म स्थिरोभूत काल काले और इंद्र भी जो ब्रह्म के तिरोधान काल में जिस आकाश में खड़ा था जो तो तो आकाश में था जिस आकाश में है जहां पर ब्रह्म तिरोभूत हो गया और इंद्र भी जहां खड़ा है आशी जहां आकाश में था स इंद्र तस्वीर एवं आकाश है तस्थ वहां से इधर उधर हिला नहीं वहीं बैठा था तस्वीर को तो तस्थ वह स्थिर हो गया किम तद यक्षंती ध्यान चिंतन करता हुआ कि ये जो अभी अभी स्वरूप दिखा करके छिपने वाला कौन है वो इच्छा पूजन ये व्यक्ति कौन है ऐसा चिंतन करता हुआ वही खड़ा रहा उसी आकाश में किम यक्ष यक्षमिति ध्यान तस्मिन एक आकाश है तस्थल ऐसा होगा उसी आकाश में आ रहा न निवृत्ते अग्नि और वायु के समान वापस नहीं आया आया जाने तो मेरे देखे भाग गया ऐसा सोच सकता था किंतु आया नहीं वापस छोटा व्यक्ति होता तो मेरे से डर गया बोल देता किंतु थोड़ा समझदार है इसलिए वापस नहीं आया न होना अग्नि आदि जैसे अग्नि आदि वापस हो गए थे इसको जान नहीं सके करके किंतु वापस नहीं आया तस्य इंद्र से यक्ष भक्ति लुटता उस इंद्र वहीं पर रहने के कारण से उसकी श्रद्धा देखी गई परमात्मा के प्रति श्रद्धा है उसको जानना चाहता है वास्तव में जानना चाहता है ऐसी श्रद्धा देखता बुद्ध ऐसे समझकर विद्या उमा रूपिणी जो विद्या है ब्रह्म विद्या वहां पर हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में आकाश प्रदेश में दर्शन देती है बोलते हैं विद्या और रूपिणी जो ब्रह्म विद्या है ब्रह्म विद्या ही ब्रह्म को बताएगी और तो नहीं बता सकता है ब्रह्म विद्या ही उमा के रूप धारण करके इंद्र से संवाद करती है कहना चाहेंगे विद्या उमा रूपिणी जो उमा स्वरूपा विद्या है दादुर अभूत तो उसी में यक्ष के प्रति भक्ति को देख करके जब देखा तो ऐसे देख करके ब्रह्म विद्या शामिल हो जाती है उमा के रूप में एक अपना स्त्री रूपा एक महिला के रूप में स्त्री के रूप में वहीं पर प्रादुर्भाव हो गया कुमारूपी विद्वन विद्या का कहा एक नंबर कुमार कुमारूपी विद्या स्त्री रूपा सती प्रादुर्भाव ऐसा करना जो विद्या ही है ब्रह्म ब्रह्म विद्या है वो ब्रह्म गुरु ब्रह्म विद्या ही बताएगी अन्य कोई बता नहीं सकता वो ब्रह्म विद्या ने जब समझा कि इंद्र के यक्ष के प्रति भक्ति है श्रद्धा है क्यों दो दो वापस गए थे वापस गया नहीं वहीं पर बैठा रहा इसकी श्रद्धा जरूर है भक्ति है समुद्र ख्याल बना करके दर्शन दिया स्त्री रूपा सती स्त्री के रूप में एक महिला के रूप में दर्शन दिया राजभूति की स्त्री रूपा यदि सामान्य से विशेष है हमारे स्त्री रूपा को, कोई भी स्त्री हो सकती है सामान्य स्त्री रूपा जाने से झाड़ू लगाने वाली भी हो सकती है तथा नहीं कुमार रूप नहीं कहा पार्वती क्या स्वरूप कहा पार्वती के स्वरूप धारण करती है वो ऐसा कहा आगे भाष्य में देखिए स इंद्र स्थान उमाम बहुशोभमान सर्वेशान शोभमान शोभमान विद्याम नाम उमान बहुशोभमान बहुत शोभा से युक्त है और जो ब्रह्म विद्या है बहुत शोभा है जिस व्यक्ति के पास कोई ब्रह्म विद्या हो व्यक्ति गुरु होने पर भी स्वभावान होता है जिस विद्या के आने पर स्वभाव को प्राप्त करता हो तो विद्या कितनी स्वभावशील होगी इसलिए कहा बहुत स्वभावान कहा बहुत स्वभाषी होता है जो ब्रह्म विद्या पार्वती के रूप में है सर्वे में शोभानाम शोभानाम संसार में जितने भी स्वभावान पदार्थ है सबसे अधिक स्वभाव इसी ब्रह्म विद्या में ही है सबसे बड़ी स्वभाव इसी में है और विद्या कौन है सा विद्या या विमुक्त है विद्या वही है जो मुक्ति दे मुक्ति देने वाली को विद्या नहीं कहते ये तो संसार का कमाना खाना चिड़िया आदि भी जानते हैं ये विद्या को कोई विद्या नहीं मानते वो भी जानते हैं कला अपने जीविका की कला वो भी जानते हैं जैसे आपने सीख लिया इधर उधर ठगना सीख लिया उस पर वो भी जानते हैं कोई विद्या नहीं विद्या तो है सा विद्या या विमुक्त है जो मुक्ति के लिए होती है उसी को विद्या कहते हैं विद्या उसी का विद्या फलम से आप असतो निवृत्ति प्रवृत्ति प्रदीक्षित हो फलम से प्रभाव कहा है ज्ञान का फल क्या है असत से निवृत्ति होनी चाहिए तो विद्या ब्रह्म विद्या ऐसी होती है अगर जिसको ब्रह्म विद्या हो यह शरीर आदि असत पदार्थों से अपने को अलग करेगा विद्या फलम से आप असतो निवृत्ति असत से निवृत्ति होना विद्या का फल है और प्रवृत्ति हो रही है तो क्या होगा प्रवृत्ति राग से तदीक्षित होगा या ज्ञान का फल है राग का फल है यदि आपकी प्रवृत्ति हो रही हो तो अभी अज्ञान का परिचय है अज्ञान को इसे पूछ लेकर तो नहीं आएगा विषयों की तरफ लोलुपता ज्यादा हो तो आप अज्ञान तो बहुत स्वभावान थी हरिभवती ने कहा एक बहुत स्वभाव स्वभावान विद्या तरस बहुत शोभमान विशेषण उपम सभी स्वभावान पदार्थों को भी अति शोभा करती है इसलिए शोभमान विशेषण सार्थक होता है उमा के लिए कहा उमा माने ब्रह्म विद्या है दो नंबर की टिप्पणी तथा प्रकृताया स्त्रिया विद्या सती सत्य सती एवं विद्या प्रकृत में तो स्त्री सामने एक स्त्री खड़ी हो गई जा रहे इंद्र के सामने तो वो स्त्री रूपा जो विद्या है उसके लिए इस प्रकार उमा के रूप देने के लिए यही है बहुत स्वभावमान है कहा तदा शोभन वो हैव क्या देखा हेम सुवर्ण वाली है सोना पहनी हुई है ऐसा चमकीली सुंदर है हेम कृता भरणवतिम हेम सोने के द्वारा बनाया हुआ वाला आवरण होते हैं जेवर आदि होते हैं वैसे युक्त ऐसी सौंदर्य हेमवती एवं हेमवती के समान माने जो विद्वान होगा कोई कोई अंगूठी आदि पहनने से नहीं विद्वान बनेगा उसके जो वाणी से उसके परिचय देता है वो वाणी से पता लग जाता है तो उसके कोई आभूषण पहनने की जरूरत नहीं है एक रास्ते में सोना पहनी हुई नहीं थी सोना पहनी हुई जैसी लगती थी इतनी चमकीली इतनी सौंदर्य था यम कृता भगवती का यम सोने के द्वारा बनाया हुआ आवरण वाली जैसी इवा बहुत शोभमान होता है तो जैसे सोना पहन करके कोई स्त्री आती होता तो अच्छी लगती है सौंदर्य है उसके पास इस प्रकार के स्वरूप में तीन नंबर टिप्पणी छांदसम दिवस पूर्वत्वा वास्तव में हरिवतिम करके मंत्र में है तो में तो हरिवतिम कहा या ईवा लगा करके अर्थ किया वास्तव में सोने की बनी हुई तो नहीं थी वो इसलिए ईवा लगाना पड़ेगा ये छांदस है प्रयोग ये ईवा का लोप होना ईवा होना चाहिए कोई कोई सोनारा ने बनाया हुआ सोने की मूर्ति थोड़ी आई थी वहां हाँ, सोना पहनी हुई जैसी थी ये कहना चाह रहे इसलिए ये भी कहा टिप्पणी कार्य का में युवा शब्द लोपम है छांदस है युवा शब्द का लोक छांदस है युवा शब्द घटना लगना चाहिए यानी तो पाप में सोने के बनी हुई तो है वो तो। सोने के बनी हुई जैसी यह कर लेना है ये काम अथवा दूसरी व्याख्या माने ब्रह्म विद्या आई थी उमा पार्वती के स्वरूप लेकर के अर्थ है अथवा उमा पार्वती ही आई थी दूसरी व्याख्या क्योंकि यहाँ पर हैववचन इत्यादि यहाँ हैववचन का अर्थ हिमालय की पुत्री लगे इस व्याख्या में इस व्याख्या में यह होगा पहले तो विद्या का विशेषण था हैववचन अब इस व्याख्या में हिमालय की पुत्री पार्वती ये कहेंगे अथवा कुमार एवं हिमवतो दुहिता अब हैववती शब्द का था हिमवतो अपत्या हैववती यह अर्थ करेंगे आपके बाद पार्वती स्वयं वहां अथवा उमा एवं हिमवतो दुहिता हैववती नित्यम एवं सर्वज्ञ ईश्वरेण सह वर्तते इति ज्ञापन समर्था यदि कृत्यता इंद्र वो स्त्री के पास गया क्यों गया वो भगवान शंकर के पास में हमेशा ही रहती है तो भगवान शंकर कैसे हैं सर्वज्ञ है सबको जानते हैं तो इस शिक्षक को भी जानेंगे वो उनके साथ ही हमेशा रहती है यही सोच के गया ये कहते हैं अथवा उमा ये हिमवतो दुहिता या हिमवती का तो उमा ही लेना हिमालय की पुत्री को ही लेना पहले तो ब्रह्म विद्या शब्द लिया था एक स्त्री ब्रह्म विद्या स्त्री के रूप में ब्रह्म विद्या खड़ी हो गई थी ये कहना चाह रही हूँ ब्रह्म विद्या ब्रह्म को बताएगी अथवा पार्वती भी बता सकती है क्यों बता सकती है वो भगवान शंकर के साथ और भगवान शंकर कैसे हैं सर्वज्ञ यही अर्थ है अथवा उमा ये वही हेमवत रोहिता जो हिमालय की पुत्री है उमा पार्वती हेमावती वही हैमवती शब्द का वही लेना क्यों नित्यम एवं सर्वज्ञ नित्य साथ है ये किसके साथ सर्वज्ञ ईश्वर के साथ सर्वज्ञ ईश्वर कौन है भगवान शंकर सर्वज्ञ ईश्वर एवं सहवर्तते उनके साथ रहती है इसलिए भैरवती का अर्थ ये भी हो सकता है ज्ञापन समर्थ इसलिए ये जानने में समर्थ है भगवान शंकर के साथ हमेशा है भगवान शंकर सर्वज्ञ है तो ये जो इसके बारे में जानना ये जान सकती है क्योंकि ये स्त्री है ये पार्वती है ऐसा करके पार्वती के सामने जाता है समर्था कि कृपा ताम उपजगा उसके पास गया या तो पार्वती ही है अथवा ब्रह्म विद्या कोई स्त्री के रूप धारण करके आई हुई है तो उसके पास सब पहुंच जाता है इंद्र उस यक्ष को बारे में पूछने के लिए कहा इंद्र ताम हेवो उमा ताम उपजगामा इंद्र ये विराम नहीं होना चाहिए हाँ, इंद्र इधर लगना है तो वहां चला गया इधर चला गया जहां पर पार हिमालय की पुत्री पार्वती खड़ी दिखती है वहां पर चला गया ताम और उमा किल था इंद्र ने उस उमा को पूछा वहां जा करके पार्वती को पूछा क्या पूछा पपरक्षण विवाद ने पूछा गुरु ही बोलो देवी किम किम दर्शन दर्शित तिरोभूतम यक्षवती ये अपने स्वरूप को दिखा करके जो छिप गया ये एक कौन है साधक के जीवन में कभी कभी ऐसा होता है कभी कभी कुछ स्वरूप दिख पड़ता है कुछ अनुभव जैसा लगता है किंतु तुरंत भूल जाता है ये तीनों की घटना ऐसी हुई है इंद्र का ऐसा हुआ साधक के जीवन में कभी कभी मैं देह से अलग हूं ऐसा थोड़ा आवास होता है क्योंकि तुरंत तुरंत छिप जाता है तुरंत छिप जाएगा स्थिति ऐसे ही यहां हुआ है विरोध होता है वो जो अभी अभी अपने स्वरूप दिखा करके जो छिपने वाला वो इंद्र पौने करके पार्वती को पूछा या तो ब्रह्म विद्या को पूछा या पार्वती को पूछा ये अर्थ है ये कहा है आगे अब वाक्य भाष्य पर चलते हैं कहां पर है देख लीजिए वाक्य भाष्य थोड़ा वाक्य भाष्य होगा पहले दिन हो जाएगा हाँ पहले वाले के लिए गया कहा अच्छा वाले क्या गया गया तब विज्ञान आया अग्नि अब्रभुण यहाँ अब्रवन यहाँ से है पहले वाला भाष्य है तब विज्ञान आया उस यक्ष को जानने के लिए एक सामने खड़ा हो गया उसको जानने के लिए अग्नि को कहा पहले पहिया अग्नि है दूसरे पहिया वायु है तीसरे में इंद्र है तो अग्नि को कहा देवताओं ने ये तो हो गया चले जाते हैं सब कुछ होता है वहां यक्ष क्या करता है एक तीन का रख देता है इसका तात्पर्य बता रहे वाक्य भाषा पद से व्याख्या करना नहीं है ये तो युक्ति कुछ बतानी है युक्ति पर है विशेष होगा तो खूब शास्त्रार्थ चढ़ेंगे जैसे प्रथम मंत्र को छेड़ दिया था तो ये परिभाष्य नहीं है वाक्य भाष्य तब विज्ञान आया अग्निम अभ्रवम अभ्रवम का अर्थ क्या होता है कहते आगे तीर्ण धान है अयम है तो उसके सामने अग्नि के सामने एक तिनका रखा गया या वायु के सामने रखा गया उसके अभिप्राय ये है अत्यंत संभावितयो अग्निमारतयो स्त्रीणाधान आदान असत्या आत्मसंभावना सहायता भवित परमात्मा ने यह सोचा था कि एकदम अत्यंत संभावित हैं सम्मान्य हैं लोक में देवताओं में प्रशंसनीय है दोनों कौन अग्नि और वायु तो अत्यंत संभावित यो अत्यंत संभावित व्यक्ति है दोनों अग्नि मारुत अग्नि और मारुत वायु ये दोनों अत्यंत संभावित है इनमें तीर्ण दहन आराम असत्य है जब ये तीर्ण को एक जला नहीं सकता है और दूसरा उठा करके उड़ा नहीं सकता है स्थिर में आत्मसंभावना सहायता हो मैं अग्नि हूं ये अहंकार नष्ट हो जाएगा मैं वायु हूं ऐसा अहंकार नष्ट हो जाए ये परमात्मा ने सोचा ये सोच करके काम किया एक दिन का किया ये कहा आगे तीसरे नंबर में इंद्र को भेजा है जब दोनों फेल हो जाते हैं इंद्र को भेजते हैं तो इंद्र शब्द का क्या अर्थ है इंद्र आदित्य वज्रवृत्ता यहां पर अर्थ करते हैं इंद्र माने या तो आदित्य सूर्य है या वज्रधारी जो प्रसिद्ध इंद्र है लोक में प्रसिद्ध है और आदित्य को इंद्र शास्त्र में प्रसिद्ध है लोक में प्रसिद्ध नहीं यही दिखाएंगे आदित्य वज्र इंद्र शब्द का आदित्य भी होता है और वज्रधारी भी है क्या कैसे तो टिप्पणी कार आते हैं मान लोक में प्रसिद्ध तो है नहीं इंद्र का आदित्य कोई भी नहीं मानता है इंद्र शब्द का बाच्यार्थ आदित्य को नहीं मानता तो फिर टिप्पणी का शास्त्रीय प्रसिद्धि लाते हैं तीन नंबर टिप्पणी है तीन नंबर में कहा द्वादशादित्याना मध्य ज्येष्ठ मासिका आदित्य हरिंद्र नामा स्मरिय थे जो द्वादश आत्म प्रत्येक महीना का आदित्य का नाम बदल जाता है सूर्य का एक महीना तक एक राशि में सूर्य होता है उसका एक नाम होता है तो द्वादशादित्य में ज्येष्ठ का आदित्य जो ज्येष्ठ मास का जो आदित्य है जो मासों में दूसरा मास माना जाता है वैशाख से आरंभ करते हैं तो ज्येष्ठ मास की जो आदित्य है इंद्र नाम स्मरियते कहते हैं इंद्र नाम से कहा जाता है ये कहा कहा जाता है तथा इंद्र आदित्य थी कहा है आगे बताएंगे प्रसिद्धो व देवरा इंद्र यह इंद्र इतिहास है अथवा प्रसिद्ध है मैंने लोग में तो प्रसिद्ध है देवरा इंद्र ही होता है इंद्र का ये दोनों कहा इसलिए वर्ग विभेद नहीं किया तो ये शास्त्रों में प्रसिद्धि कहाँ है इंद्र माने आदित्य कहाँ प्रसिद्ध है तो महाभारत आदि बहुत लोगों में है करके टिप्पणी का लाते है टिप्पणी का हुआ महाभारत आदि पर्व अठारह पर्व है ना उसमें सबसे पहले वाले को आदि पर्व बोलते हैं वहां महाभारत में जो आदि पर्व है उसमें द्वादशादित्यास इतम पठन थे द्वादशादित्यों का नाम है वहां इस प्रकार पढ़े जाते हैं कैसे पढ़े जाते हैं तथा ही धाता यमाच मित्र वरुणम सूर भगस्त इंद्रो विवस्वाम पूषा च प्रजन्यो दशम स्मृत ततस्कृष्टा तथो विष्णु अजगण्यो जघन्यज इत्यादि वहां पर श्लोक दिए हुए महाभारत में उनका नाम आदित्य का नाम धाता अर्यमा ऐसा ऐसे नाम है मित्र वरुण अंशु भाग इंद्र विवस्वान पूषा पर्जन्य ये दसवा फिर उसका त्वस्ता फिर विष्णु ऐसे ऐसे नाम है द्वादश आदित्य ऐसे नाम है तो इंद्र नाम भी है कहा मिला महाभारत के आदि पर्व एक जगह मिला मैंने शास्त्र में प्रसिद्ध है आदित्य के लिए ये कहा ये द्वादश आदित्य में इंद्र नाम आ गया ठीक उसी प्रकार मास भेदे आदित्य भेदा आदित्य हृदय दर्शिता उसी प्रकार कहते देखो प्रत्येक महीने के भेद से जो आदित्य भेद आदित्य हृदय नाम का ये पुस्तक है स्तुति है तो उसमें दिया हुआ है प्रत्येक महीने के भेद से सूर्य का नाम भिन्न भिन्न होता है आदित्य हृदय नाम की पुस्तक में दिया है करके टिप्पणीकार कह रहे हैं यथा जैसे अरो माघ सेतु सूर्यो वही फागुन है तथा चैत्रे मासी वेदज्ञो वैशाखे तपन स्मृत ज्येष्ठे मासी भवेन्द्र आषाढ़े तपते रवि गवस्ती श्रावणे मासी यमो भागपते तथा ईशे हिरण्य रेता स कार्तिकेय दिवाकर मार्ग शीर्षे तपे चित्र पौषे विष्णु सनातन इतने द्वादशादित्य काश्यपेय प्रकृतिता काश्यपेय ऋषि ने कहा है बारह आदित्य का नाम कहा है बारह मास का बारह आदित्य का नाम कहा है कहा आदित्य हृदय नाम के ग्रंथ में एक टिप्पणी कार कहते हैं मैंने आपको अभी बहुत कुछ पढ़ना है खाली उपनिषद पढ़ के काम नहीं चलेगा जो टिप्पणी कार ने अभी यहां भाष्यकार ने लिख दिए इंद्र आदित्य वज्रभृदवा आदित्य नाम से प्रसिद्ध तो भाई नहीं लोग कैसे भाष्यकार में लिखा होगा किंतु भाष्यकार कैसे पता है श्रुति स्मृति नाम आलय श्रुति स्मृति पुराणों का आलय है वो खजाना है वो संक्षेप में बोल दिया उनको पता है वहां वहां है और ये भी ख्याल रहा होगा आगे हमारे ऐसे शिष्य निकलेंगे जो इसके उद्धृत करेंगे टिप्पणी आदि में उद्धृत करने वाले निकलेंगे ख्याल होगा उनको हाँ, उनको समय देना होगा इसलिए भी माने स्पष्टीकरण नहीं हुआ भाष्य में इसलिए स्पष्टीकरण यहां हुआ है तो क्या कहा आदित्य हृदय ने कहा अरुण माघ मास हेतु माघ मास के सूर्य का नाम है अरुण सूर्यो भाई फाल्गुन है तथा फाल्गुन मास के सूर्य का नाम होता है सूर्य फाल्गुन में और चैत्र मासी वेवज्ञ चैत्र महीना में वेवज्ञ नाम होता है और वैशाख तपन वैशाख में तपन नाम होता है सूर्य का ज्येष्ठ मासी भवेद इंद्र इंद्र नाम यहां भी आया है आगे के हृदय में ज्येष्ठ मास के सूर्य का नाम इंद्र होता है आषाढ़ तपते रवि और आषाढ़ में तपत नाम का होता है सूर्य आषाढ़ तपते रवि नाम होता है जब तपता है ग्रीष्म ऋतु में तपता है तो रविमान होता है गवस्ती श्रावण मासी और श्रावण महीना में गवस्ती नाम पड़ता है सूर्य का यमो भाद्रपदे तथा और भाद्र मास में नाम पड़ता है और ईशे हिरण्य ईशा माने आश्विन महीना ईशा का ईश महीना आश्विन महीना है उसमें हिरण्य रेता नाम होता है कार्तिकेय दिवाकर और कार्तिक में दिवाकर नाम होता है मार्ग शीर्षे तपे चित्रम चित्र और मार्गशीर्ष में चित्र नाम होता है पौष विष्णु सनातन और पौष मास में विष्णु नाम होता है ये कहा ये बता दिया मैंने आदित्य शब्द शास्त्र में प्रसिद्ध है सूर्य के लिए प्रसिद्धि है इंद्र शब्द ये दिखाया कितने का तो भाष्यकार बोल दिए थे इंद्र आदित्य वज्रवीर का तो आपको शंकाएं होगी कि इंद्र शब्द का तो भाष्यकार ने आदित्य कैसे लिखा होगा इसका मतलब ये शास्त्र में प्रसिद्ध है लोग में प्रसिद्ध न होने पर शास्त्र में प्रसिद्ध है ये टिप्पणी का ने स्पष्ट कर दिया अविरोधार कहते हैं दोनों में से कोई भी लोग कोई विरोध नहीं आएगा इंद्र शब्द का अर्थ सूर्य लो चाहे इंद्र लो विरोध नहीं अविरोधा टिप्पणी ब्रह्मा देवे पे विजय इति देवानाम प्रस्ताव है देवताओं का प्रस्ताव है यहाँ क्या है देवताओं के साम विजय प्राप्त किया तो चाहे आदित्य हो भी देवता ही है इंद्र हो तब भी देवता ही है कोई विरोध नहीं आएगा दोनों देवताओं में से कोई एक है ब्रह्मा देवे देवा इति प्रस्ताव है इंद्र पदम देवताओं के प्रस्ताव में इंद्र शब्द आया हुआ है यही तो है तो दोनों देवताओं में कोई भी ले लो आपत्ति क्या है यही कहते हैं इंद्र पदम पूर्तम अन्य तरह परम न विरुद्ध थे दो में से कोई भी ले लो दो में से इंद्र लो या आदित्य लो न विरुद्ध थे उभय देवत्ता विशेषा दोनों में दोनों में देवत्व धर्म दोनों में है आदित्य में और इंद्र में दोनों में है एक कहा इंद्र पदे न उक्त अन्य तरह ग्रहण कोष प्राय स्मृत्यादि विरोधाभावाच कहते पद के द्वारा ये दो में से कोई एक लेना कहीं कोषादि वाक्य का विरोध तो नहीं होगा कहते विरोध नहीं एक पदे ना उक्त करें उक्त क्या भाषिका ने कहा आदित्य वज्रकृतवा दो में से कोई एक लेना कहा तो दोनों में कोष प्राय कोषादि जो है स्मृत्यादि विरोध अभा कोष हो चाहे स्मृत्यादि का विरोध का भी अभाव है विरोध नहीं है तो दोनों में से कोई भी दे सकते हैं यह अच्छा अब आगे कहते हैं इंद्रों को सर्पणे ब्रह्म विरोध है इंद्र के चले जाने पर सर्वगतव धातु है सर्पण में मतलब गमन करने पर जाने पर सर्वगतव इसलिए सर्प सर्प बना जब राजा बहु स्वर्ग का राजा बन गया बन गया तो वो इंद्राणी के साथ में संभोग करना चाहता था मैं इंद्र बन गया तो पहले वाली जो इंद्राणी है वह मेरे पास होना चाहिए ऐसी बुद्धि खराब हो गई तब इंद्राणी को पता लग गया ये कुछ गलत दृष्टि से देख रहा है पता लगा अपने गुरु गृहशक्ति के पास जाती है और गुरु जी से प्रार्थना निवेदन करते गुरुदेव ऐसी स्थिति हो गई इंद्र तो श्रापित होकर के भागा हुआ है और ये धरती से इंद्र बन के आया हुआ है और कुछ दिन बाद वो इंद्र आने वाले हैं श्राप मुक्त होने के बाद और ये मेरे साथ दुर्व्यवहार करना चाहता है तो बृहस्पति ने युक्ति बताई ऐसा करना उसके अपने पतन हो जाएगा कि तुम ब्राह्मणों के ऊपर में सवारी होकर के मेरे अपने महल से मेरे महल तक आ सको नंगा होकर नंगा होकर ब्राह्मणों के ऊपर जैसे बैलों में सवारी करते हैं घोड़ों में उस प्रकार ब्राह्मणों के ऊपर सवारी होकर आ जाओ तो मैं परम करूंगी ठीक है कहीं तो ऐसे बोल दिया उसने कहा क्या बात है कामापुराणाम नशकम सकम न लज्जा इसमें लज्जा है न सुख है काम से आतुर है तो वो ऋषि मुनियों को बुलाया बहुत दिनों से मैंने सेवा की तुम लोग आज मेरा थोड़ा काम है हरो क्या काम है मेरी पालकी ढोनी पड़ेगी मेरी पालकी ढोनी होगी अच्छा जी अब क्या करें और उसका नमक खाया हुआ है उसके देश में रहे उनके यहां रहे तो बड़े लोग गए वहां पर दुर्वासा भी थे और वो इसमें आतुर हो गया था बार बार बोलता था सर्प सर्प सर्प सर्प बोलता है सर्प सर्प का तो मतलब दो होता है कारक में भी होता है क्रिया में भी होता है सिर्फ का तो धातु से अच प्रत्यय करेंगे तो सर्प बनेगा कारक भी बनेगा माने चलने वाले को सर्प बोलते हैं माने रूढ़ है सर्प चलने वाले तो सभी है सभी को सर्प नहीं कहते तो एक व्यक्ति विशेष होता है और एक सिर्फ धातु का लोट लगा के मध्यम पुरुष एक वचन में सर्प बनेगा जैसे भूधातु का भव बनता है उसी प्रकार सिर्फ धातु का भी सर्प बनता है वो क्रियापद लगा रहा था क्रियापद सर्प चलो चलो चलो चलो ये अर्थ उसके अभिप्राय था किंतु दुर्भाषा जी को आया कुछ आया जो बोल रहा वही हो गया तो अजगर बन के गिर गया तो वैसे क्या है विरोध में चलो तो ये कहा कि इंद्र उपसर्ग ने ब्रह्म विरोध है इंद्र के चले जाने पर ब्रह्म अंतर्हित हो गया इत्यत्र अभिप्राय मार्ग केवल अभिप्राय बताते हैं बाकी तो अर्थ तो वही पहले पहले में ऐसा ही अभिप्राय बताते हैं इंद्र हम इति अधिकतम हो अभिमान हो अश्य सो अहम सो अहम अग्नियादि भी प्राप्त बाप संभाषण प्राप्त स्मृति अभिमान कथम होना ज्ञाति थी कहते हैं परमात्मा छिप गए का इसका अर्थ क्या होता है इंद्र जाते हैं पहले दोनों से तो बातचीत तो किया था इससे तो बात भी नहीं कर रहे हैं तो क्या कारण है इसलिए कहा कि यह अभिप्राय है इंद्रो अहमिति अधिकतमो अभिमान अश्य इसमें ज्यादातर अभिमान उनमें भी है किंतु उनसे भी अधिक अभिमान देवताओं की अपेक्षा अग्निवायु में और उनसे भी ज्यादा तम प्रत्यय लगा पहले तर था अभी तमप है तमप अतिशायी तमविष्ठम हो तमप प्रत्यय लगा कर बोलता बहुतों में से एक व्यक्ति को अतिशाय अतिशय बताना हो तो तमप लगाया जाता है दो में से एक, एक को अतिशय बताने के लिए तरप या सुन लगाया जाता है इसमें ज्यादा अभिमान है मैं इंद्र हूं ये दोनों भी मेरे अधीन है ये भावना है इसलिए सो हम वही मैं क्या करूं अग्नियादि भी प्राप्त बाप संभाषण मात्र अभी अग्नि के साथ तो वाणी के संभाषण तो हुआ था उतना भी अने न प्राप्त हो मैं इसके द्वारा ये भी नहीं करना चाहता हूं मैं अलग ही रहूंगा ऐसा सोचकर यदि अभिमान कथम यार जब मैं ऐसा कर दूंगा तो अभिमान क्यों नहीं त्यागेगा मेरे साथ तो बात भी नहीं थी ऐसा करके अभिमान त्यागेगा जरूर त्यागेगा आशा से परमात्मा ने उसके साथ बात न करके अंतर्ध्यान हो गया यही आता है कहा तब अनुग्रह वो अंतरितम तब ब्रह्म को होगा उसी के लिए अनुग्रह करने के लिए वो ब्रह्म अंतरहित हो गया इंद्र के ऊपर कृपा करने के लिए ही अंतर हो गया यह अर्थ है इसका ये कहा ठीक है और बारह का टिप्पणी एक भाष्य है वाक्य भाष्य सशांता विमान उसको अभिमान शांत अरे मेरे को बड़ा अभिमान था इसलिए पर भगवान ने दर्शन नहीं दिया मैंने साधक ही सोचता अगर साधक होगा इतने दिन मैंने साधना की अभी भी दर्शन नहीं देता है नहीं भगवान भगवान कुछ नहीं है ऐसा नहीं मानेगा साधक साधक अपनी गलती को स्वीकार करता है अगर साधक हो तो हाँ। यही यहां पर इस चर्चा की के तात्पर्य है सशांता अभिमान शांत हो गया अभिमान जिसका क्यों मैं इंद्र हूं करके ज्यादा अभिमान लिए आया था जिस व्यक्ति के पास आया उससे मैंने दर्शन भी नहीं दिया दर्शन देकर छिप गया बातचीत भी नहीं किया शांत हो गया अभिमान अपने आप समझ गया कि मेरे में कुछ कमी है इसलिए दर्शन नहीं किया ऐसे साधक अपने अवगुण को दिखता हमेशा ऐसे तात्पर्य लेना चाहिए सवर्ण इंद्र शांत अभिमान शांत हो गया है अभिमान शांत अभिमान यश्य बहुग्री समाज से शांत हो गया है अभिमान मैं देवराज इंद्र हूं ऐसा अनुमान तो शांत हो गया जिसका ऐसा होता है इंद्रो अत्यर्थम ब्रह्म जिज्ञासु जिज्ञासु उसको अब कुछ नहीं चाहिए ब्रह्म ही चाहिए ऐसे जिज्ञासु हो गया और कुछ भी नहीं चाहिए जब साधक के मन में ऐसे आ जाए भगवान को छोड़कर हमें कुछ नहीं चाहिए वास्तव में भीतर की भावना आ जाए जरूर भगवान दर्शन करेंगे एम वैसा दृढ़ देते लभ्य कठोपनिषद में आएगा मंत्र आएगा जो परमात्मा को ही चाहता है उसको जरूर परमात्मा मिलते हैं किंतु परमात्मा को भी चाहता है विषय को चाहता है साथ में परमात्मा को भी चाहता है वो ही और घी में अंतर है और कुछ नहीं है ही लगाते हैं हम लोग हम लोग खाएं पिए रहे आराम से मोज मजा करते रहे और भगवान विश्वास साहब मिल जाए तो क्या हाल जाए हमारी ये धारणा है ग्यारह हमारे लोग उठता इधर है भी भगवान को मिल जाए तो किंतु भगवान को ही चाहना या भगवान को भी चाहना ये ही और भी में बहुत अंतर होता है साधक ही लगाता है बाकी लोग भी लगाते हैं भी और ही का खेल है तो कहते हैं अत्यर्थम ब्रह्म जिज्ञासु अत्यंत ब्रह्म के जिज्ञासु हो गया वो मैं उसके बिना गति नहीं ऐसा समझा ऐसे होकर के जिज्ञासु यशमिन आकाशे ब्रह्म प्रादुर्भाव आशे जिस ब्रह्म में ब्रह्म का प्रादुर्भाव था जहां पर खड़ा दिखाई दिया था हाँ, तिरोधान चल और तिरोधान भी हो गया जहां छिप गया जहां स्वरूप दिखाया और छिप गया तस्मिन एवं उसी आकाश में इंद्र भी खड़ा था वहां से लौटा नहीं हम लोग जैसे होते हाँ मेरे देख तो डर गया भाग गया हम्म, ऐसा सोचते किंतु वो दूसरे तरीके से सोचता है साधक है तस्वीर उसी आकाश में स्त्रियां आगे एक स्त्री के पास पहुंच गया तब तक ये स्त्री सामने दिखाई देती है एक स्त्री वो ब्रह्म विद्या स्त्री है अथवा हिमालय की पुत्री है स्त्री दोनों से कोई एक है ऐसे उसके पास पहुंचता है स्त्रियम आजगामा ऐसा मंत्र में है स्त्रियम अति रूपेण अत्यंत स्वरूप है अत्यंत स्वरूप है मानी जो विद्यावान होगा गुरु होने पर स्वरूप हो जाता है यही है तो अत्यंत स्त्री अति रूपिण विद्या आजगाम विद्या के पास चला गया इंद्र इंद्र चला गया माने जब ब्रह्म अंतर्धान हो जाता है तो एक स्त्री के रूप में वो खड़ी दिखाई पड़ती है उसके सहारा लेना है क्यों ब्रह्म विद्या के बिना ब्रह्म नहीं सहारा ब्रह्म विद्या है वो ब्रह्म विद्या ही हिमालय पुत्री के रूप में वहां दर्शन दे रही है अथवा हिमालय की पुत्री ही है दो में से कोई एक है कहा आगे त्रिपण एक स्त्री परम लक्षित लक्षण या विद्या परम यहाँ त्रिप शब्द लक्षित लक्षण एक शक्तिवृत्ति से ज्ञान होता है शब्द का दूसरा लक्षणावृत्ति और एक होता है लक्षित लक्षण स्त्री शब्द का अर्थ माने लक्षण कर दी थी उमा पार्वती ने और उससे भी लक्षण की ब्रह्म विद्या लक्षित लक्षण कहते हैं जैसे ब्रह्म पद में लक्षित लक्षण होता है लक्षित लक्षण है ये कहा स्त्रियों अतिरूपण विद्या इत्यादि कहा अच्छा आगे आर्यमान अभिप्राय उद्बोध हेतुत्वाद रुद्र पत्निया पत्नी उमा हैमवती इव शोक सा शोक माना विद्य विरूप को भी विद्यावान बहुत शोभते करें अभिप्राय उद्बोध हेतुत्वाद इंद्र के अभिप्राय का उद्बोधिका बनने के कारण हो सकती है वो ब्रह्म विद्या में होकर के पार्वती हो सकती है उन्होंने कहा अभिप्राय उद्बोध हेतुत्वाद रुद्र पत्नी उमा रो रुद्र की पत्नी भगवान शंकर की पत्नी उमा पार्वती है हैवती इव मैंने सोना भरण से युक्त हुआ जैसी होकर के शोभमान सा शोभमान माने पार्वती उमा के समान शोभायमान दिखाई पड़ गई कौन ये विद्या विद्या विरूप विद्या ही वहां आई थी ब्रह्म विद्या विरूप विद्यावान बहुत शोभा थी विरूप होने पर भी शरीर से विरूप होने पर भी विद्यावान बहुत बहुत स्वाभिमान प्राप्त होता है संसार में प्रसिद्ध है कहा टिप्पणियां हैं दो और तीन में दो में करते हैं स्त्री विद्या अत्र विवक्षिता यहाँ स्त्री शब्द है ना स्त्री के पास गया इंद्र तो स्त्री शब्द से सामान्य स्त्री नहीं विद्या विद्या माने लौकिक विद्या नहीं ब्रह्म विद्या नेट चलाने वाली विद्या नहीं समझना तो ब्रह्म विद्या है विद्या अत्र विवक्षित है यहाँ पर स्त्री शब्द अर्थ विद्या ब्रह्म विद्या विवक्षित है इत्यत्र हेतु महा इसमें हेतु कारण बदलाते हैं अभिप्राय उद्बोध हेतु अभिप्राय का उद्बोध का कारण होने से माने उसके जो इंद्र के मन में जो बैठा हुआ है कौन है क्या है ऐसा अभिप्राय का उद्बोधन कर रही है इस कारण से या ब्रह्म विद्या ही स्त्री शब्द का अर्थ लेना माने लक्षित लक्षण के द्वारा ये कहा अच्छा किम इदम यक्षमिति यही इंद्र से अभिप्राय यही अभिप्राय का उद्भुत का कारण बताया क्या है ये यक्ष कौन है ऐसा उसके अभिप्राय है जिज्ञासा है उसके मन इंद्र के मन में जो मेरे को देख करके छिपा हुआ है दर्शन में नहीं दिया मुझे पापी समझा ये साधक तो ये समझता है कितने साल हो गया भगवान दर्शन में दे रहे हैं मैं पापी हूं ऐसे समझता है किंतु अज्ञानी जो होंगे मैंने इतने साल की साधना की अभी तक नहीं भगवान भगवान कुछ नहीं है उसकी दृष्टि अलग है किमिदम यक्षमिति यह इंद्र से अभिप्राय ऐसे इंद्र के जो अभिप्राय है विषय विषय संशय विषय संशय है उसको क्या है ये चीज तो विषय जो ताल्य सकार वाला विषय को संशय कहते हैं संशय विषय का अभिप्राय उसका किमिदम यक्ष विषय विषय है ना दो बार पहले वाला विषय संशय दूसरा विषय संशय का विषय बना हुआ है किमिदम यक्षमिति विषय विषय बहुबरी समाज विषय विषयो संशय है विषय जिसका जिस अभिप्राय का एक तब वो रहे कुता उसके ज्ञान का कारण बनी हुई है वो उसको बताती है इसलिए वो ब्रह्म विद्या ये कहना चाहते हैं स्त्री अत्र विद्या बोध हेतु सत्व प्रधान शक्ति स्त्री शब्द यहां जो आया स्त्री के पास गया मैंने सत्व प्रधान शक्ति है ब्रह्म विद्या है वो ज्ञान स्वरूप है कहा तरबोध स्तरीय संवेद बोध तरबोध में उसके जो बोध है ज्ञान है वही यहाँ पर ब्रह्म विद्या ही पार्वती के रूप में आकर के उपदेश दिया बोलते हैं तीन नंबर टिप्पणी विद्या इति एवकारेण स्त्री विग्रह प्रतिषिध्य थे विद्यव शोभमान विद्यव अभिप्राय उर्वोर हेतुत्व रुद्रपत्नी उमा हेमवती इव जैसे रुद्रपत्नी उमा पार्वती है यमवती है उसके समान हाँ, विद्या ही शोभवान अति सुंदरी होकर के विद्या ही आई है ये कहना चाहते हैं तो विद्या एवं एवकार लगाए उसको बोलते हैं एवकार के द्वारा स्त्री विग्रह प्रतिषिध वहां कोई स्त्री सामने आ गई उसको देख करके इम्र गया ऐसा यहां स्त्री विग्रह नहीं है विद्या ही है वो प्रतिषेध किया जाता है तस्या शोभमान पूर्ति उसको जो विद्या के शोभवान को कहा कैसे स्वाश्रय शोभ प्रयोजन विद्या क्या काम करती है जिसमें आश्रित हो जाती है उसकी शोभा बढ़ाती स्वाश्रय स्व का आश्रय स्वस्थ आश्रय स्वाश्रय अपने जो आश्रय है जिसमें आश्रित हो जाती है वो सम्मानीय व्यक्ति हो जाता है समाज में विद्या का काम है एक स्वाश्रय शोभा प्रयोजक हाँ, विकासन विद्यावान बहुत शोभते हाँ, विरूप होने पर भी विद्यावान बहुत स्वभाव को प्राप्त होता है समाज सभा में विद्वानों की सभा में कहा मूर्खों की सभा में तो नहीं होगा वो विद्वानों की सभा में स्वभाव को प्राप्त होता है अष्टावक्रो अपर निर्देश अष्टावक्र जो आठ तरफ से टेढ़े हैं जो ऋषि फिर भी जनक के यहाँ जनक को ऐसा उपदेश देते हैं अष्टावक्र गीता प्रसिद्ध गीता है कोई कोई कर्म उपासना आदि बात ही नहीं केवल ज्ञान की बात है यानी वेदांत का आखिर शिखर पर बोलते हैं मुक्ति विच्छसी चेतता सूर्य मंत्र है यदि तुम मुक्ति चाहते हो विषयान विषवत तेजा सर्वस्पर्श रूप जो पांच विषय हो जहर के समान समझ के त्याग करो इनमें लोलुप का मत करो क्षमा दया पोषण सत्यम पीम समर भजन क्षमा आर्जव दया संतोष इनको अमृत के समान सेवन करो ऐसा कहते हैं अष्टावक्रो अत्र निर्दय निर्दर्शित अष्टावक्र दृष्टांत देना चाहिए विद्यावान कुरूप होने पर भी बहुत पूज्य बहुत पूज्य होता है ये कहा उत्तम हरिणाम भर्तृहरिणा उत्तम राजा भर्तृहरि जी ने अपने बैराग के शतक में कहा है केयूरा नभ्यूषण पुरुषम हारा न चंद्रोज्वला न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम नालंकृता मूर्धजा मांडे का समलम करोति पुरुषम या संस्कृत धार्यते क्षीयते खलु भूषणान शपथम बाघभूषण भूषण भरतरेटी कहते हैं हाँ, बाघ मैंने वाणी विद्या विद्या रूपी भूषण ऐसी भूषण है कैसे भूषण है कहते हैं केयू का विभूषण केयूर बाजूबंद में पहनने वाले को केयूर बोलते थे सौंदर्य के लिए न विभूषण पुरुषम ये पुरुष को स्वभाव नहीं करते वो सोना के जेवर बना के लाभ दिया उसे स्वभाव को प्राप्त नहीं होता हारा चंद्रोजला गले में आजकल पहनने लग गए हैं हार पुरुष लोग भी आकर जन आप तो हार का नाम चयन हो गया है डालने लग हैं कुछ साधु भी डालने लगे आश्चर्य की बात है एक गोल्डन बाबा आजकल चल रहे हैं बताओ के विभु पुरुषम हारा चंद्रोजला चंद्रमा के समान चमकने वाले जो हार हैं वो भी विभूषित नहीं कर सकते सौंदर्य नहीं ला सकते न स्नानम कितने भी साबुन लगा लगा के स्नान करो वो भी कितने आपको स्वायमान नहीं कर सकते न विलेपनम पाउडर आदि का क्रीम आदि लगाते रहो स्वाय को प्राप्त नहीं करेंगे न कुसुमम फूल के गुच्छा लगाओ कुछ नहीं न अलंकृता मूर्दजा और केस को संभालते रहो खूब सुंदर करते रहो दिन भर स्वभाव को प्राप्त होने वाला नहीं है किंतु एक ही चीज है शोभा को देने वाली कौन कहते हैं बाण्य का समान करोति पुरुषम एक ही बाणी है जो कि सौंदर्य ला देती है पुरुष को या संस्कृत आधारित है जो संस्कार करके बोली हुई बाणी शुद्ध बोलता हो अशुद्धि नहीं शुद्ध बोलने वाला सोच करके बोलने वाली जो वाणी है तो वो वाणी संस्कार करती है क्षीयम के खलु भूषणानि शतकम भूषण भूषण सारे के सारे भूषण इसमें छीण हो जाते हैं वाणी रूपी भूषण में सब तो नष्ट हो जाते हैं यही वाणी रूपी भूषण एक अमर है देखा बाप च सरस्वती विद्या या बाप शब्द का वाणिज्य का संबंध कहा तो बाप का सरस्वती यह विद्या है तो विद्या रूपी भूषण ऐसी भूषण है ये बताया समय हो गया है नहीं रखते हैं आगे फिर कर ओमाप्यायन्तु चक्षुस्रोन्द्रियाणि सर्वम् ब्रह्मोपनिषदम् ब्रह्मया कुर्या मा ब्रह्मया करोदया कर्णस्त्वया कर्णदेशस्तु तवात्मनिरते यौवनिषत्सु धन्वास्ते